भैर्वोद्भूतं यथा निद्रया कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानवेवाद्वयम् तस्मै यते म्रियते मा विपश्यत् नायम् पुश्यन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शास्त्रतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ताचेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम् हन्ति न हन्यते अणोरणीयान् महतो मह्यान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति गीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमास्ति आसीनो दूरम् व्रजति शयानो याति सर्वतः कष्टम् मदा मदम् देवम् मदन्यो ज्ञातुमर्हति अशरीरम शरीर अनवस्थेष्वस्थितम महान्तम् विभुमात्मानम् मत्वा धीरो न सूचति ॐ शान्ति शान्ति प्रश्न ये था कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर धर्म अधर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये देखने में आता है कि जितने जन्म मरण होते हैं उन पर धर्म अधर्म का प्रभाव पड़ता है धर्म के अनुसार उत्तम योनि मिलती है अधर्म के अनुसार अधम योनि मिलती है जल में द्रवता रूप धर्म है तो वायु के संबंध से उसमें तरंग उठती है यदि जल में द्रवत्व पिघला होना गीला है ना पिघला होना पतला होना ये यदि द्रव स्वरूप धर्म जल में न होता तो वायु के संबंध से उसमें तरंग कैसे उठते इसी को तो बोलते हैं कि शरीर कैसे होगा यदि बीज में अंकुरोत्पत्ति के अनुकूल धर्म न होता तो बीज में से अंकुर की उत्पत्ति कहाँ से होती तो संसार में जितनी आकृतियां बनती हैं वो धर्माधर्म के अनुसार ही बनते हैं ऐसा समझो एक आत्मा है यही धर्म है यही प्रकृति है तो उसमें एक औरत एक मर्द कैसे बन गया एक पशु एक मनुष्य कैसे बन गया एक चीज में इतनी किस्में इतने रकम के पदार्थ इतने प्रकार भेद कैसे बन गए तो इसके लिए कि जितने बीज होते हैं उन बीजों में उनके पूर्व कर्म धर्माधर्म के रूप में रहते हैं और उनसे शरीर की प्राप्ति होती है कार्य कारण भावी संसार में देखने में आता है माँ बाप न हो तो बेटे की उत्पत्ति कहाँ से होगी माटी न हो तो घड़ा कहाँ से बने कुम्हार न हो तो घड़ा कौन बनावे तो संसार में कार्य कारण भाव भी देखने में आता है और ये भी देखने में आता है कि बचपन पहले होता है जवानी बाद में होती है कुछ पहले कुछ पीछे भी होता है तो वो वस्तु कौन सी है जिस पर काल का असर नहीं जिस पर काल कारण का और जिस पर धर्माधर्म का असर नहीं तो इसका सीधा सीधा उत्तर था कि ब्रह्म ऐसा है धर्माधर्म के अनुसार ब्रह्म का जन्म नहीं होता और ब्रह्म में कार्य कारण भाव नहीं है और ब्रह्म में भूत भविष्य नहीं होता तो उसमें बचपन जवानी शरीर का कुछ नहीं होता तो सीधा उत्तर तो उसमें बचपन जवानी शरीर का कुछ नहीं होता तो सीधा उत्तर तो हो जो पूछी गई थी बात उसका यही था कि ब्रह्म का नाम ले लिया जाए ऐसा ब्रह्म है लेकिन ऐसे ब्रह्म का नाम ले लिया जाए तो हमारे किस काम का बोले ब्रह्म में धर्म धर्म नहीं है ब्रह्म में कार्य कारण नहीं है ब्रह्म में भूत भविष्य नहीं है तो ये कथा सुन ली ब्रह्म की तो ये तो ऐसा ही हुआ कि पड़ोसी के घर में आज ये खाने को बना है ये बना है ये बना है ये बना है या तो बनाने लायक हो तो कल तुम भी अपने घर में बनाओ और बनाने लायक नहीं हो तो तुम्हारा क्या प्रयोजन तो ब्रह्म ऐसा है ब्रह्म ऐसा है अगर ये बात कही गई तो या तो तुम भी ब्रह्म बनने की कोशिश करो और कोशिश करने से अगर तुम ब्रह्म नहीं बन सकते तो बेकार गया बताना रखा गया था वैसा और जवाब दिया जा रहा है कि ये जो तुम्हारी आत्मा है इसका धर्माधर्म के साथ संबंध नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि असल में आत्मा ही ब्रह्म है तो ये तो बड़ा प्रयोजनीय हो गया एक होती है क्रिया और एक होती है विक्रिया एक काम तो हम करते हैं देखो घड़े को छाती से मार मार के बनाना पड़ता है जेवर को हवड़े से पीट के या गला के बनाना पड़ता है लेकिन शरीर में जो बचपन जवानी बुढ़ापा आता है वो कहीं लाना थोड़ी पड़ता है वो तो अपने आप आ जाता है तो जो अपने आप परिवर्तन होता है उसको विकार बोलते हैं तो संस्कृत भाषा में किसी भी विकार को हो विकार ही बोलते हैं हो मान मनुष्य लोग जो है वो मनुष्य लोग व्यवहार में कैसे बोलते हैं बच्चे का विकास हो रहा है क्योंकि अभी जवानी की ओर जा रहा है और जब वो जवानी पार करके बुढ़ापे की ओर चलता है तब कहते हैं कि अब शरीर में विकार हो रहा है काले बाल उगते हैं तो विकास है और सफेद बाल उगते हैं तो विकार है परंतु दार्शनिक लोग बचपन से जवानी आने को भी विकार ही बोलते हैं क्योंकि वो तो बुढ़ापे की भूमिका ही है बकरे को चंदन लगाया जाए माला पहनाई जाए उसका खूब आदर सत्कार किया जाए खूब खिलाया पिलाया जाए तो वो मौत की ओर एक कदम और बढ़ उसकी कोई उन्नति नहीं हुई राजगद्दी नहीं मिली उसको अगर ये बात पक्की कर दी जाए नक्की कर दी जाए ये बात कि राजगद्दी पर बैठने के बाद तुमको उसी दिन मार दिया जाएगा आज तो राजगद्दी पर बैठा रहेंगे पर तुरंत तो वो मौत की ओर एक कदम हुआ तो संसार में जिसको विकास बोलते हैं वो असल में विकार की ही ओर एक कदम है तो बढ़ना भी कोई चीज मरने वाली होती है तो फूल जाती है पहले ये शोष रोग है शोष तो नारायण हम जानबूझ के बनावे तो क्रिया करके बनावे और अपने आप बने तो विक्रिया हो जाए और यदि पहली अवस्था और दूसरी अवस्था आगे पीछे हो गए तो काल का संबंध हुआ अब कहते हैं कि ये जो आत्मदेव हैं अनिर्वचनीय यश्यति तदवद ये आत्मदेव कहते हैं जब अनिर्वचनीय है उनका वर्णन करो एक और इस प्रसंग में बात सुनाते हैं जो लोग संस्कृत भाषा के माध्यम से वेदांत पढ़ते हैं उनकी समझ में ये बात जल्दी आती है और जो लोग दूसरी भाषा के माध्यम से पढ़ते हैं उनका ध्यान खींचना पड़ता है जैसे आप देखो अनिर्वचनीय और अज्ञेय अचिंत्य इन शब्दों के अर्थ में आपको फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है मैंने एक पाश्चात्य वैज्ञानिक है वो आत्मा को कहता है कि अज्ञे है अज्ञे है माने आंख से देख नहीं सकते मन से उसके बारे में सोच नहीं सकते है ना बुद्धि की वहां तक गति नहीं है जैसे आइंस्टीन के मत में ईश्वर अज्ञे है और कांत के मत में आत्मा जो है वो अज्ञे है रहस्य है तो उनमें और वेदांत के अनिर्वचनीय में कोई बराबरी है कोई तुलना है कि नहीं है सबसे परे सबसे परे सबसे परे हाथ जोड़ लिया है पर सबसे परे है तो है लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं अनिर्वचनीय माने ये बिल्कुल नहीं होता बोला जो अनिर्वचनीय माने ऐसा समझते हैं कि कुछ करे तो वो तो नहीं जानते निर्वचनीय शब्द का प्रयोग वेदांत में कैसे किया जाता है बाल मनस जो है ना वाणी बोलती हुई ये बोलती बात और सोचता हुआ अंत करा और मौन वाणी और शांत अंत करा इन दोनों का प्रकाशक रहते हुए साक्षात अपरोक्ष रहते हुए और दोनों का विषय न होना कोई दूसरा नहीं तुम खुद बांग मनसा गोचरत्व सती बांग मनसो हो साक्षात प्रकाशकत्व वाणी और मन का विषय न होकर वाणी और मन को देखने वाला देखो हाँ। जो लालटेन से दिखाई न पड़े लालटेन को देखे उसका नाम आप तो ये जो मन है बुद्धि है आंख है ये सब लालते हैं बाहर की चीजों को देखने के लिए लेकिन ये जिससे दिखते हैं उनका नाम क्या है अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ होता है बांग मनसा गोचरत्व वाणी से बोलने में जो चीजें आती हैं वो नहीं मन से सोचने में जो चीजें आती हैं वो नहीं मन और गाड़ी नहीं मन और गाड़ी की शांति नहीं सब का साक्षी हो करके और उनका अविषय होना माने स्वयं हो करके खुद हम खुद वो हैं और सबको मन मन और वाणी को जानते हैं अनुर्वचनीय शब्द का अर्थ ऐसा है बाल मनसा गोचरत्वान ये नहीं कि है कि नहीं है न है कह सकते न नहीं कह सकते वो तो दुनियादारी की बात है सत्वा सत्वा दुआ अनिर्वचनीयत्वा आकाश की नीलिमा अनिर्वचनीय है क्योंकि आंख से दिखती है तो ना ही कैसे बोले और आकाश में नहीं है है कैसे बोले तो आकाश की नीलिमा अनिर्वचनीय है है कि नहीं है ऐसा ठीक ठीक बोलने के योग्य न होने के कारण और आत्मा अनिर्वचनीय है कि नहीं है ऐसा बोलने के अयोग्य होने के कारण नहीं <clears throat> मन और वाणी का दृष्टा होकर मन और वाणी का विषय न होने के कारण हाँ तो इसलिए आपको बताया कि किसी दूसरी भाषा में है ना अनिर्वचनीयता का पर्याय यदि आपको अज्ञेय मिलता हो अनिर्वचनीय का पर्याय अचिंत्य मिलता हो तो वो नहीं अचिंत्य बाद दर्शन शास्त्र में एक दूसरा बाद है और अज्ञेयवाद एक दूसरा वाद है हाँ। संपूर्ण भक्तों के लिए ईश्वर अज्ञेय है और संपूर्ण भक्तों के लिए ईश्वर अचिंत्य है अन्य प्रेरणा क्योंकि वो अन्य है और वेदांति का जो आत्मा है वो स्व है अपना आशा है साक्षात है अपरोक्ष है वो स्वर्गादि के समान नहीं है वो घटादि के समान नहीं है वो स्वयं है तो अब ये आपको तो यही यही एक ऐसा आश्चर्य का विषय है कि ये ध्यान मनुष्य को आता ही नहीं है कि मैं ही हूँ और ये वेदांत यही ध्यान दिलाता है न जायते मृयते वा विपश्चित विपश्चित विप्रकृष्टम चिनोती गुह्य से गुह्य वस्तु को इसने जान लिया और जाना तो ये जाना कि मैं दृष्टा हूँ मैं दृंग मात्र हूँ मैं ब्रह्म हूँ देखो परमात्मा देश से परे परंतु देश को जानने वाला है देखो ऐसे देखो भारत देश को तो मैं जानता हूँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वो नहीं है परंतु पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को वही जानता है मैंने वो तो मैं ही हूँ ये हुआ कब वो पहले था बाद में नहीं रहेगा ऐसा नहीं पहले होना और बाद में न होना दोनों का प्रकाशक वही है मैंने काल से वो परे है और जवानी और बचपना और बुढ़ापा वो नहीं है इनको जानने वाला है कठिन से वो न्यारा है तब धर्म अधर्म से जो चीज बनती है सुखी शरीर बना धर्म से दुखी शरीर बना अधर्म से बोले भाई मैं तो बना ही नहीं न जाए थे मैं तो बना ही नहीं तो धर्म का संबंध मुझ साक्षी से मुझ दृष्टा से मुझ आत्मा से मुझ चैतन्य से धर्म का संबंध नहीं है तो बोले रोग हो गया अधर्म से हाँ, हाँ। तो बोले मुझे तो रोग हुआ ही नहीं तो न मृत है मृत्यु तो होती ही नहीं उस साक्षी की मौत नहीं होती हो दो आदमी आपस में लड़ रहे हो और दोनों दोनों को लाठी मारे दोनों का सिर फूट जाए दोनों दोनों को बल लगा दें है ना गोली चला दें तो उसमें गवाह का क्या बिगड़ेगा गवाह तो, तो वो रहेगा ना जो दोनों की गोली से नहीं मरा जिस पे दोनों के डंडे का असर नहीं पड़ा वो गवाह होगा ना उसको साक्षी बोलते हैं संस्कृत भाषा में साक्षी उसको बोलते हैं साक्षात दृष्टर देखिए साक्षी शब्द का अर्थ भी आपको बता दें जैसे आजकल कानून में साक्षी किसको मानते हैं गवाह साक्षी माने गवाह तो किसको मानते हैं जो आके कहे कि हमने ये बात सुनी कान से है ना उसको गवाह नहीं मानते एक दूसरे हमारे मित्र ने देखी थी और मित्र ने आके हमको बताया था तो हम सुन के गवाही दे रहे हैं तो उसको गवाह अदालत में नहीं माना जाता था वो साक्षी नहीं हो सकता कोई पेश भी करे उसको अदालत में तो वो गलत गवाह है अच्छा तो यदि कोई कहे कि आंख ने देखा और मुझको बताया तो उसका नाम साक्षी नहीं होगा बोला कान ने सुना और मैं बता रहा हूँ नाक ने सुना और मैं बता रहा हूँ जीभ ने हमसे बताया था कि ये चीज खट्टी मीठी है और मैं तो इनकी गवाही नहीं माने उसकी वो साक्षी नहीं है जो आंख कान नाक जीभ ने जो चुगली की है तुमसे इसने निंदा की इसने तारीफ की इसने बड़ा मीठा गाया इसने कड़वा बोला है ना वो काला नीला पीला इसकी चुगली कौन करती है आंख करती है ना तो ये इनकी चुगली सुन करके जो संसार के बारे में निश्चय किया जाता है है ना वो सच्चा जज नहीं है न्यायकारी नहीं है इनके बिना जो तुमने देखा है सो बताओ साक्षात दृष्टर संज्ञाया संज्ञा साक्षी एक संज्ञा है एक नाम है जिसके लिए है कि जो साक्षात देखता है नेत्रादि इंद्रियों के बिना और अंतकरण के बिना लो इस तरह अंतकरण का दृष्टा है अंत सुषुप्ति को देखता है तो बुद्धि से देखता है अंतकरण से देखता है सुषुप्ति को इस तरह कहो उस समय तो अंतकरण रहता ही नहीं अच्छा तो उस समय तुम धर्मात्मा होते हो कि पापी उस समय तुम सुखी होते हो कि दुखी उस समय तुम रागी होते हो कि देशी न उस समय तुम्हारे धर्म है देखो सुसुक्ति को तुम देखते हो तो धर्म अधर्म राग द्वेष शत्रु मित्र सुखी पना दुखी पना सारा सुसुक्ति में लीन हो गया और तुम जागृत स्वप्न से विलक्षण जिसमें जागृत और स्वप्न की कोई बात नहीं मालूम पड़ती उस सुसुप्ति दशा को देख रहे हो तुम वो साक्षी हो मर गया धर्म मर गया धर्म वो तो खोल की तरह छूट गया तो जैसे सुसुप्ति में तुम धर्म अधर्म राग द्वेष शत्रु मित्र सुख दुख से मुक्त होते हो तो वो तुम्हारे स्वरूप का नमूना है जैसे तुम उस समय सबसे छूटे हुए हो जागृत स्वप्न में भी तुम वैसे ही छूटे हुए हो देखो तुम खुद ही पकड़ते हो मानी मानी बंधन में आयो ठीक तुम्हारा वही साक्षी स्वरूप है और वहाँ देखो भूत भविष्य वर्तमान तीनों सो जाते हैं कि नहीं सुसुप्ति में इसका मतलब है वो वृत्ति के बेटे हैं हैं? तो तुम भी अपने को वृत्ति का बेटा मानते हो कब जब अपनी उम्र मानते हो सौ पचास वर्ष की तब तुम वृत्ति के बेटे हो गए जब अपने को जन्मने वाला मरने वाला माना है ना तो तुम वृत्ति रूप गाय के बेटे हो गए हाँ, बछड़े हो गए हो बैल हो गए तो और जब तुमने वृत्ति का उदय और वृत्ति की शांति दोनों को साक्षी के रूप में जब तुमने अपने को जाना तो जन्म और मृत्यु दोनों से परे हो गए क्योंकि काल की कल्पना ही वृत्ति में होती है अब तुम साढ़े तीन हाथ के सीताराम ये एक इंच या करोड़ों मील जो देश मालूम पड़ता है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वो तो वृत्ति की उपस्थिति में मालूम पड़ता है जब तुम सो जाते हो तो ये लंबाई चौड़ाई सब सो जाते हैं और ये वजन सारा का सारा और एक मन दो मन सारा वजन सो जाता है सुसुप्ति में तुम तो उसके साक्षी हो हैं? वो जो साक्षी है मतलब वो तुम्हारा तो स्वरूप तो काल में जन्म मरण नहीं होता देश में तुम साढ़े तीन हाथ के नहीं होते स्वर्ग नरक में नहीं जाते बोला और तुमको मनुष्य और पशु का शरीर नहीं मिलता न जायते मृत विपश्चित नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित ये किसी से पैदा नहीं हुआ ये साक्षी किसी से पैदा नहीं हुआ और साक्षी से कोई पैदा नहीं हुआ किसी से उसको अस्मात कश्चित न बहूगा अयम कुतश्चित न बहूगा अयम कुतश्चित न बहूगा ये आत्मा किसी से पैदा नहीं हुआ और अस्मात कश्चित न बहूगा और इससे कोई पैदा नहीं हुआ ये न किसी का बेटा है और न किसी का बाप है अब महाराज तुम तो धर्म ही अधर्म की बात करोगे हाँ बाप नहीं होगा तो तुम सेवा करके धर्म कैसे कमाओगे बाप है ना आजकल के बच्चों ने तो इस बखेरे को काट ही दिया है कि बाप की सेवा से तो धर्म होता है चलो तो छुट्टी है और भाई तुम्हारे बेटा नहीं होगा तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा तुम हुक्म किसको दोगे अपना वो पितरी पैसा धर्म सनातन धर्म देखो बेटा चोटी रखना वो पहनना है ना हमारे बाप दादा जैसे रहते थे वैसे श्राद्ध करना मूर्ति पूजा करना करना तो बेटों ने कहा कि बाप जी तुम परेशान हो रहे हो झूठे ही छोड़ो इस चर्चा को हम तुम्हारे ने हम तुम्हारे बेटे नहीं हैं तो हमको भाई लोगों ने बताया बापों ने बताया कि महाराज हमारा बेटा तो ऐसा मुंहफट हो गया है है ना एक दिन मैंने कहा कि तुम्हारी माँ ने पेट में रखा दस महीने तुमको उसका कुछ ख्याल तो रखो हम तुम्हारे बाप हैं कुछ हमारा ख्याल तो रखो तो लड़के ने कहा कि बाबा तुम लोग हमको पैदा करने के लिए तुम थोड़े ही मिले थे है ना तुम तो अपने मौज के लिए मजे के लिए दोनों मिले मैं तो एक्सीडेंट आ गया है ना है ना तुम्हारे प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है ना ऐसे हो बेटे ने ऐसे कहा तो यदि तुम बाप और बेटे में फंसे हो है ना और अपने को उनसे पैदा होने वाला शरीर ही मानते हो तब तो तुमको दुख होगा जरूर लेकिन ये शरीर की धारा अलग जड़ वर्ग में चलती है और तुम तो स्वयं चेतन हो तुम साक्षी हो चेतन कहते ही उसको है कि जिसमें परिवर्तन न होए हाँ। जानना जानना जानना बदलते हुए को जानना ये इसका काम है बदलते हुए को जानना तो कहा जानता है वो अपने भीतर सबको जानता है कि अपने बाहर बोले अरे बाबा भीतर और बाहर भी उसका जान नहीं है तो पहले जानता है कि पीछे का पहले पीछे भी उसका जान नहीं है हाँ। तो क्या चीज जानता है तो वो चीज और चीज का न होना दोनों उसका जान नहीं है तो ये जो चैतन्य है न किसी से उत्पन्न है न किसी का उत्पादक है बिल्कुल अद्वितीय है इसमें जो स्फुरण मात्र जो प्रतीति मात्र ये प्रपंच है और ये अपना अंतकरण जिसको बोलते हैं अपना शरीर जिसको बोलते हैं और सारी दुनिया जिसको बोलते हैं सारी दुनिया का बनाने वाला जिसको बोलते हैं ये क्या है ये अद्वैत चैतन्य में स्फुरण है ये अविद्या ये माया ये अविद्या वाला जीव ये माया वाला ईश्वर ये अद्वैत चैतन्य में अद्वैत चैतन्य में केवल प्रतीक स्फुरण मात्र है आभास मात्र है आकाश में नीलिमा के समान अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे ये अज है अज शब्द का दोनों होता है स्वयं न जाए थे अन्य रूपेण न जाए थे जो स्वयं पैदा न हो उसको भी अज कहते हैं और जिसका अन्य रूप से परिणाम न गए उसको भी अज कहते हैं मन स्वयं किसी से पैदा हुआ नहीं और इससे कोई पैदा होगा नहीं उसको अज बोलते हैं अब देखो भाई सर्व धर्म समन्वय तो होता है हम लोग बड़ी सब बड़ी बड़ी सभा करते हैं हाँ, काशी में तो एक सर्वधर्म समन्वय सभा की स्थापना हुई थी कैसे कहते सर्वधर्म समन्वय तो हो जाएगा सर्वधर्म समन्वय माने खिचड़ी तो है ना उसमें शुद्ध दाल शुद्ध चावल खाने को कभी नहीं मिलेगा है ना चावल क्या होता है दाल क्या होती है ये बात नहीं मालूम पड़ेगी अब ये बात सब आजकल के प्रगतिशील जमाने के विपरीत पड़ती है इसलिए कहने में भी संकोच होता है, देखो बहुत से धर्म ऐसे हैं जो जीवात्मा की उत्पत्ति मानते हैं बहुत हाँ, से ऐसे हैं जो जीवात्मा की मृत्यु मानते हैं बहुत से ऐसे हैं जो उत्पत्ति और मृत्यु तो नहीं मानते परंतु बढ़ना घटना मानते हैं कहाँ से समन्वय करें बोलो बौद्ध धर्म में आत्मा की उत्पत्ति नहीं मानते परंतु उच्छेद मानते हैं वो मुसलमान ईसाई धर्म में आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं परंतु उच्छेद नहीं मानते दूसरे हो गए ना करो धर्म समन्वय है ना न उनकी वो मानेंगे न उनकी वो मानेंगे ये बात है जैन धर्म में उत्पत्ति भी नहीं मानते और उच्छेद भी नहीं मानते लेकिन डरने घटने वाला मानते हैं सीताराम और भाई सर्वधर्म समन्वय का अर्थ इतना ही होता है कि सत्य बोलो है ना दुखी पर दया करो रोगी की दया करो मूर्ख की शिक्षा का प्रबंध करो इतने ही सर्वधर्म समन्वय का अर्थ होता है है ना ये नहीं है कि हिंदू धर्म के अनुसार चोटी रखो और मुसलमान धर्म के अनुसार दाढ़ी रखो हाँ दोनों को मिला के एक धर्म बन जाए ऐसा सब धर्म समन्वय तो का अर्थ नहीं होता या दोनों को साथ ही साथ उड़ा दो और समन्वय हो गया हो तो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार चलते हुए है ना देखो ये हमारे मित्र हैं बड़े स्पष्ट वक्ता तो एक ने कहा कि सब दर्शन मिलकर एक ही बात बोलते हैं हाँ, कोई परमहंस रामकृष्ण का वचन है ना तो चार अंधे इकट्ठे हो गए तो उनमें ये प्रश्न उठा कि हाथी कैसा तो एक ने पाव पकड़ा बोला पेड़ की तरह है एक ने सूर पकड़ा तो बोला कि मूसर की तरह है है ना एक ने एक पीठ देखी हाथ से छू गए बोला पहाड़ की तरह एक ने काम देखा बोले सूप की तरह है तो समन्वय ये हुआ कि चारों अंधे हैं चारों में से किसी के हाथी किसी को हाथी के स्वरूप का ज्ञान नहीं है जो जितना छूटा है वो उतना बताता है तो ठीक है आपकी बुद्धि में तो समन्वय हो गया क्योंकि आप परमहंस जी पर श्रद्धा रखते हैं लेकिन वे चारों जिनके बारे में ये बात कही गई है वे क्या अपने को अंधा मानते हैं न्याय दर्शन अपने को अंधा मानेगा वैशेषिक अपने को अंधा मानेगा शांत योग अपने को अंधा मानेंगे मीमांसा वेदांति अपने को अंधा मानेंगे आपकी बुद्धि में परमहंस जी पर श्रद्धा रखने के कारण समन्वय हो गया परंतु वो चारों को तो लक्ष्य लेके लड़ने के लिए तैयार हैं उनमें कहाँ से समन्वय होगा नैयायिक ने कहा आत्मा करता है, है? और सांख्य ने कहा कि आत्मा अकर्ता है मीमांसक ने कहा कि कर्ता अकर्ता दोनों है दो ने कहा न करता है न अकर्ता है तो शुद्ध ब्रह्म है उस समन्वय धर्म समन्वय का क्या मतलब हुआ तो इसका अभिप्राय ये है कि वस्तु को ठीक ठीक समझना पड़ता है कहाँ तक आपकी बुद्धि प्रवेश करती है कितनी सूक्ष्मता कितने सूक्ष्म गुणा में ये साक्षी जो है ये कर्ता का भी साक्षी है भोक्ता का भी साक्षी है अकर्ता अभोक्ता का भी साक्षी है बना था हाँ। परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित और उसका साक्षी नारायण अजो नित्या शाश्वत यम पुराणा तो सभा में तो सबका समन्वय हो जाएगा परंतु अपने अपने घर जाके सब अपने अपने बात पर अड़ते हैं और बैठते हैं रजो नित्य यम पुराण न जायते बता न ये किसी से पैदा हुआ खुदा ने कुल कहा आपको और जीवात्मा बन गया अजहा नहीं बना नहीं बोला तो न जायते तो जीव ने संकल्प किया और सृष्टि बन गई ईश्वर ने संकल्प किया तो नहीं अपने ही आत्मा है अपने आप को समझो परमात्मा का जितना वर्णन है वो दूर वाले परमात्मा का वर्णन नहीं है अजह अनित्य यम वृद्धि और अपक्षय से वर्जित शाश्वत है एक रस बढ़ता घटता नहीं घड़ा तो नया नया बनता है ना तो नया घड़ा होता है और ये पुराती नव एवं इसी पुराना पहले भी नया था आज भी नया है आगे भी नया है नित्य नूतन है जो का क्यों है बोले भाई ये वर्णन होगा ईश्वर का होगा ये अगरमा होगा ईश्वर अमर होगा ईश्वर है ना बिना बाप का होगा ईश्वर बिना बेटे का होगा ईश्वर ये ईश्वर का वर्णन होगा बोले कि ईश्वर में तो जन्म मरण की प्राप्ति नहीं है तो निषेध काय को करेंगे और जब उसकी मौत की शंका होए किसी ने कहा कि ईश्वर भर जाएगा सब न बोलेंगे कि न मृत है ईश्वर नहीं मरता है प्राप्त सत्या निषेधा जब कोई आपत्ति विपत्ति प्राप्त होती है तब उसको टाला जाता है निवारण किया जाता है उस पर तो जन्म मृत्यु प्राप्त ही नहीं है परिवर्तन प्राप्त ही नहीं है अरे जिसको देखा नहीं जाना नहीं मिले नहीं सातवें आकाश में कहीं छिपा हुआ उसके बारे में ये कहना कि जन्म नहीं होता मृत्यु नहीं होती ये जो आकाशादि रूप अनात्मा प्रतीत हो रहा है ना ये प्रतीति मात्र है पैदा हुआ हुआ नहीं है बोला ये है है नहीं है ये जाने वाला नहीं है ज्यो का क्यों दीखता हुआ पर ब्रह्म परमात्मा से प्रकाश नहीं है ये मिट जाएगा तब तुम ब्रह्म बनोगे तो बात नहीं है फिर तो शरीर रहते ब्रह्म हो ही नहीं सकते क्योंकि शरीर रहेगा तो प्रतीति मिलेगी तो देखो ये बिल्कुल जीवात्मा का वर्णन है कि जीवात्मा का ये स्वरूप है सो कैसे न हन्यते हन्यमाने शरीरे हाँ, किसी ने एक चांटा लगा दिया बस शरीर पर चांटा लगाया आत्मा को चांटा थोड़ी लग गई हाँ। न हन्यते ये अहम का की विपत्ति है वो न हन्यते इति अहम न की जगह आ आ गया और हन्यते की जगह हा आ गया न हन्यते इति अहार न हीनस्ती इति अहम न जहाती इति अहार न जीते इति जो कभी छोड़े नहीं जिसको पाने के लिए प्रयत्न करना न पड़े जो कभी किसी के नीचे आके छोटा न बन जाए जो कभी मरे नहीं ये ऐसे देवता है महाराज ईश्वर भी इन्हीं के सामने आता है दर्शन देता है और फिर जाता है और फिर आता है और फिर जाता है ये ऐसे देवता है ऐसे देवता कि दृश्य को इन्हीं के सामने रहना पड़ता है शरीर अन्य माने प्रति न अन्य पे शरीर की मृत्यु होने पर ये मरते नहीं तो क्या शरीर की मृत्यु होने पर ईश्वर को कोई मरना मरने वाला समझता है शरीर की मृत्यु होने पर ईश्वर को तो मरने वाला कोई समझते ही नहीं तब ये समझाने की जरूरत नहीं है शरीर के मरने पर लोग अपने को मरने वाला समझते हैं इसलिए ये भ्रांति मिटाने के लिए बात कही गई न हन्य हन्य माने शरीर शरीर की मृत्यु से आत्मा की मृत्यु नहीं होती अर्थात ये अपने आत्मा का वर्णन है अपना आत्मा कैसा अज अजर अमर शाश्वत पुराण शुद्ध अमर्थ ऐसा ये अद्वितीय आत्मा है ये जो आकाश आदि की उत्पत्ति होती है ये प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का अपरित्याग हर ज्यो का त्यों उसके रहते हुए ही है ना और उसमें ये ज्ञान ही भान ही है ना कुछ मालूम पड़ता है कुछ मालूम करता है कुछ मालूम पड़ता सा है और कुछ मालूम करता सा है जानने वाला सा है और जाना जाने वाला सा है मन ज्ञान में ही ये ज्ञाता और ज्ञे का विवर्त ज्ञान स्वरूप अखंड में ही ये ज्ञाता और ज्ञे का विवर्त मालूम पड़ता है हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो हंति न गीता में भी तो एक ऐसा ही श्लोक है न जायते मिलतेगा और ये है? ये कहते हैं किसी को शरीर आगे अच्छा उभल पवन बिजानी तो नायम हंति न हन्यते एक इस श्लोक में है उभल पवन बिजानी तो वेदा विनाशिनम नित्यम जये नजम अद्वयम कथम स पुरुष पार्थ संघापयति हंतिकर जय एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हताम उभर तौन बिजानी तो नायम हंति न हन्यते हाँ। ये कठोपनिषद के दोनों श्लोक ये ये असल में सिद्धांत के श्लोक हैं आपको इसमें सिद्धांत बताते हैं ये बताया कि ज एनम वेत्ति हंतारम जैनम मन्यते हता उभव तव न बीजानी को अपने को मरने वाला और मारने वाला माने कर्म का विषय और कर्म का कर्ता ऐसा जो समझता है वो अज्ञानी है उभव तऊन विजानी तो इसी के कारण वो कर्म के फल स्वरूप अपने में जन्म और मरण मानता है अज्ञान से अपने को कर्ता मानता है और कर्ता मानने से कर्म का संबंध मानता है कर्म के संबंध से अपने में जन्म मरण मानता है मारे अज्ञानी पुरुष ही अपने को जन्मने वाला और मरने वाला मानता है केवल अज्ञान के कारण ना और वेदा विनाशिन नित्यम जय नमजम अव्ययम कथम सपुरुष पार्थ संघारयति हंतिकाम जो ज्ञानी पुरुष है वेदा विनाशनम नित्यम वेद जानता है कि मैं अविनाशी हूँ उसमें न जन्म है न मरण है माने गलत जानकारी के कारण तुम अपने को जन्मने वाला और मरने वाला मानते हो और सच्ची जानकारी होने पर तुम अपने को जन्मने वाला और मरने वाला नहीं मानोगे इसका अर्थ ये यसीदा हो ये तुम्हें गलत जानकारी दी गई है कि तुम कर्म से लिप्त होकर के जन्मते और मरते रहते हो असल में तुम साक्षी हो और जब ये गलत जानकारी तुम्हारी ये भ्रांति मिट जाएगी सच्चाई तुम जान जाओगे तो समझोगे कि कर्म के साथ तुम्हारा संबंध नहीं और न तुम्हारा जन्म और न मरण वो हंता तेन मन्यते हंतम हतस्तेन मन्यते हतम हंता माने कर्ता हो यहाँ कर्म मात्र का उपलक्षण यदि कोई मारने वाला ये समझता है कि मैं मारने वाला हूँ और दूसरे के मारने के बारे में सोचता है अर्थात अगर कोई ये समझता है कि मैं कर्म का करता हूँ और ये ये करूंगा ये ये करूंगा ये ये भोगूंगा ऐसा सोचता है अपने बारे में और ये सोचता है कि ये भी करता सामने वाला है इसने हमारा ये काम बिगाड़ दिया हम समझते हैं कि हम इसकी ये ये मदद करेंगे हैं? और ये ये काम हम इसका बना देंगे और फिर सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन है ये ये ये काम करेगा और हमारा ये काम बिगाड़ देगा तो अपने को कर्ता समझना और दूसरे को कर्ता समझना दूसरे को कर्म का विषय समझना और अपने को कर्म का विषय समझना अगर ऐसा तुम समझते हो नित्य शुद्ध बुद्ध भक्त साक्षी होने पर भी ऐसा समझते हो तो उभव तऊन निजानी तो न कर्म तुम करते हो और न तो कर्म का लेश मात्र अपने या पराए किसी के कर्म का लेश मात्र असर तुम्हारे ऊपर पड़ता है नहीं पड़ता है अगर तुम ऐसा मानते हो तो अज्ञान है बना तो उभव तऊन बिजानी तो ये तो देह में तादाद में होने के कारण ही ऐसा मालूम पड़ता है होने के कारण ही ऐसा मालूम पड़ता है उभव न बिजानी तो, तो नायम हंति न हन्यते दोनों अज्ञानी हैं और ज्ञान के कारण ही ये संसार है जो हम अपने को साढ़े तीन हाथ का मानते हैं अज्ञान के कारण और इसके जन्म को अपना जन्म मानते हैं अज्ञान के कारण इसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु मानते हैं अज्ञान के कारण इसके धर्म को अधर्म को जवानी को बुढ़ापे को है ना इसके सुखी पने को दुखी पने को इसके दोस्त को इसके दुश्मन को जो अपना स्वरूप हम मानते हैं अपना मानते हैं तो वो हमारी है ना जानकारी की गलती है ये उपनिषद आपको कल सुनाया ही था ये ज्ञान की प्रधानता से है ये कर्ता की प्रधानता नहीं है इसमें इसमें आचार्य की भी कसौटी है हाँ। शंकराचार्य जी नहीं कहते हैं कि हमारा ध्यान करो हाँ। तो वो नहीं कहते हैं कि हमने नया सिद्धांत निकाला है हाँ। वो किसी के सिर पे हाथ रख के ज्ञान नहीं कराते वो ज्ञान को शक्ति का कार्य नहीं मानते बोला ना शक्तिपात उपनिषद नहीं है ना वो जो आप लोग चाहते हो ना कोई चीज पे हाथ रख दे और ध्यान लग जाए और शक्ति प्राप्त हो जाए और ज्ञान हो जाए है ना शंकराचार्य इस सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है मूर्ति भी नहीं है शंकराचार्य की बोला ये तो पचास सौ पचास वर्ष के भीतर जितनी बनी है जितनी मूर्ति बनी है ये मतांतर से प्रभावित होते क्योंकि आचार्यवादी लोग अपने अपने आचार्य की मूर्ति रखते हैं तो हम लोग भी किसके पीछे रहे ऐसे बताओ इससे पर हाथ रख के ये ज्ञान नहीं होता है ये तो प्रमाण की परीक्षा प्रमेय की परीक्षा प्रमाता के स्वरूप का ज्ञान अब ये बात है कि बहुत लोग इन बातों को मानते हैं विश्वास करते हैं तो उन विचारों का दिल न टूट जाए है ना क्योंकि दिल इन लोगों का बड़ा नाजुक होता है अरे ये मानने वाले जो होते हैं ना हाँ, मानने वाले तो इनका दिल बड़ा नाजुक होता है तो टूट न जाए ये सिर पे हाथ रख के ज्ञान नहीं कराया जाता है तो शक्ति से प्रेरित ज्ञान हुआ वो शास्त्र ज्ञान हुआ तांत्रिक ज्ञान हुआ वह उपनिषद ज्ञान नहीं हुआ उपनिषद तो प्रमाण है वो तो दसमस तमसी दोहराओ ये ध्यान नहीं है ये ये उपासना नहीं है ये मान्यता नहीं है है ना ये किसी का दान किया हुआ नहीं है उदारता नहीं है ये तो एक यथार्थ है सत्य है जब तक इसको तुम नहीं समझ पाते हो है ना तब तक तुम्हारी समझ की कमी है हाँ, समझ की कमी है मायम हंति न ये आत्मदेव है ना न कुछ करते हैं और न तो किसी के द्वारा निर्मित होते हैं मंत्री न करोती न हन्यते तो न क्रियते इनका निर्माता कोई दूसरा नहीं